இன்பம் பந்துவனீதி பிரதிபதமதுனா காமனுவியஞ்சயாமா ஓ संसार संसार संसार माने क्या होता है ईट पत्थर मकान स्त्री पुरुष इनका नाम संसार नहीं है वीरा मोती धन दौलत इनका नाम संसार नहीं है संसार बाहर नहीं रहता संसार अपने हृदय में रहता है हृदय में हृदय में संसार किस रूप में रहता है तो मैं और मेरा यही संसार का रूप ईट पत्थर संसार नहीं है स्त्री पुरुष संसार नहीं है अपने दिल में जो मैं मेरा बैठा हुआ है देखो क्या अद्भुत है मैं स्त्री वाला स्त्री पति वाली स्त्री पति की है और पति स्त्री का है इसका नाम संसार है मैं पति वाली हूँ इसका नाम संसार है मैं पत्नी वाला हूँ इसका नाम संसार है ये जो संसार की दृश्य वस्तुओं की धारा बह रही है ये तो स्वाभाविक है अनादिकाल से मिट्टी पानी आग हवा आसमान इनसे बने हुए शरीर इनसे बनी हुई चीजें अनादिकाल से दुनिया में रहती हैं और नित्य हैं इनका कभी अंत नहीं होता है प्रवाह रूप से नित्य है वेदांति लोग ऐसे कहते हैं अनादि है और प्रवाह रूप से नित्य है पहली औरत कब पैदा हुई थी इसको कोई नहीं बता सकता और पहला मर्द कब पैदा हुआ था इसको भी कोई नहीं बता सकता और वो समय कब आएगा जब कोई औरत और मर्द नहीं रहेंगे अरे बाबा संसार तो चलते ही रहेगा सृष्टि पर सृष्टि होती जाएगी प्रलय पर प्रलय होता जाएगा स्त्री रहेगी पुरुष रहेंगे धन दौलत रहेगी मकान रहेगा लेकिन इसमें जो हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं यह मेरा यह मेरा यह मेरा बस दुख का पहाड़ अपने ऊपर आ गया जिसको भी तुम मेरा मानोगे वो एक न एक दिन छूटेगा वो तुमको छोड़ दे या तुम उसको छोड़ दो पहले वो मर जाए तो तुम रोओगे और पहले तुम मर जाओ तो वो रोएगा तुम नहीं छोड़ोगे तो छोड़ के जाना पड़ेगा वो नहीं छोड़ेगा तो कोई न कोई छीन लेगा काल सबके सिर पे खड़ा है इस संसार की वस्तुओं को मैं मेरा समझ नहीं संसार है तुम अपने को बुद्धि समझोगे तो हमने कितनी बुद्धिमानी का काम किया है ये अभिमान होगा तुम अपने को मन समझोगे तो हमारा मन कितना प्यार करता है प्यार का अभिमान होगा जब शरीर को मैं समझोगे तो ये कितना सुंदर है काला है गोरा है मोटा है दुबला है इसी का नाम संसार है ये जाति है मैं अमुक जाति का हूँ वर्ण है मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूँ मजहब है मैं वैष्णव दैव शाक्त हूँ मैं हिंदू मुसलमान हूँ ये मजहब है इसको मेरा समझना भी संसार है और अपने को इनका समझना भी संसार है और इन वाला अपने को समझना मैं है किसी भी वस्तु के साथ मैं मेरे का संबंध जोड़ देना अब भटको धन के लिए व्याकुल मकान के लिए व्याकुल स्त्री के लिए व्याकुल पुत्र के लिए व्याकुल अब तो संसार में भटको रो इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है तो वेदांति लोग ऐसा मानते हैं शास्त्र का ऐसा सिद्धांत है कि मैं और मेरा को छोड़ो बोले ब्रह्म ज्ञान से छोड़ दो बोले भाई मैं मेरा रहते तो ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं तो तब इसको दिव्य शुद्ध बनाओ एक बीच में भक्ति आ गई वो भक्ति क्या बोलती है कि न तुम संसार के हो न संसार तुम्हारा है न तुम संसार वाले हो न तुम किसके हो न तुम भगवान के हो और भगवान तुम्हारे हैं ये भावना अपने हृदय में बने कि मैं भगवान का हूँ है कोई हमारा है तो इसमें मैं उस भगवान का हूँ अभी भगवान को देखा नहीं है इसमें श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता होती है महात्मा पर श्रद्धा विश्वास करो शास्त्र पर श्रद्धा विश्वास करो विचार करके इसको देखो दुनिया में तुम्हारा क्या है और तुम किसके हो कौन सी ऐसी चीज है जिसके साथ तुम जाओगे और कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारे साथ जाएगी ये तो दुनिया ज्यो की त्यों यहीं की यही धरी रह जाएगी न तुम्हारे साथ दुनिया का एक कण जाएगा न तुम दुनिया के साथ कभी जुड़े रह सकोगे न दुनिया तुम्हारी न तुम दुनिया के असल में ये जीव इस जड़ संसार का हिस्सा नहीं है ये चेतन को चेतन बनाने वाले जड़ को जड़ बनाने वाले परमेश्वर का अंश है ईश्वर का जीव है जीव का ईश्वर है मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरे हो तो जब अपना मुंह मुड़ जाता है भगवान की ओर शरणागति होती है सत्यवाहम ममई वासव तमेवाहम इति त्रिधा भगवत शरणत्व सियात साधनाभ्यास पाकता ज्यो ज्यो साधन अपना गाढ़ा होता जाता है परिपाक होता जाता है साधन का क्यों क्यों मालूम पड़ता है मैं कुर्सी का नहीं हूँ मैं मकान का नहीं हूँ मैं हीरा मोती का नहीं हूँ मैं धन दौलत का नहीं हूँ मैं रिश्तेदार नातेदार जो संसार में दिखाई पड़ते हैं उनका नहीं हूँ और दुनिया के कोई जीव और दुनिया की कोई चीज मेरी नहीं है क्या है तुम्हारा क्या हीरा मोती तुमने बनाए हैं सोना चांदी तुमने बनाए हैं क्या ये धरती तुमने बनाई है ये मकान तुमने बनाया है तो मकान में जो माटी पानी लगा हुआ है वो क्या तुम्हारा बनाया हो तो बच्चा तो मैंने पैदा किया है का बच्चे के शरीर में जो चेतना है वो तुम्हारी बनाई हुई है उसमें जो हड्डी मांस चाम है वो क्या तुम्हारा बनाया हुआ है आखिर उस सृष्टि में तुम्हारा है क्या तो विचार करके देखो तुम न तुम सृष्टि के हो और न सृष्टि तुम्हारी है तो ये बात जीवन में आवे कैसे तो ये आवेगी ऐसे कि जरा भगवान पर दृष्टि डालो जो इस सारी सृष्टि को बनाने वाला है और सारी सृष्टि के रूप में बनने वाला है जो इसका पालन पोषण करता है जो इसको बीज में मिला देता है कभी और कभी वृक्ष के रूप में अंकुरित कर देता है वो जो अंतर्यामी है प्रभु है उसी के तुम विवाह और यदि बूढ़ों की दुनिया में कुछ मेरा है तो मेरा है तो वही है उस परमेश्वर के सिवाय संसार में और कोई नहीं है तो तस्वीवा ममाकल से मैं हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर है मेरा मुंह मोड़ दिया संसार मेरा है संसार का मैं हूँ ये उसी समय छूट जाएगा जब हम अपने को भगवान का मान लेंगे और भगवान को अपना मान लेंगे बेटा मेरा नहीं है भगवान मेरे हैं बाप मेरा नहीं है भगवान मेरा बाप है मैं बाप का नहीं हूँ मैं भगवान का हूँ जो बाप का भी बाप है जो दादा का भी दादा है जो विश्व सृष्टि के मूल में एक है उसी ही परमेश्वर का मैं हूँ ये विश्वास अपने जीवन में जब आवे तो देखोगे कोई भाई बंधु कोई विस्तार तुम्हारी सहायता करने वाला नहीं है तुम्हारा कोई है तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो हमारे तो भगवान के सिवाय और कोई नहीं प्रश्न ये हुआ प्रश्न ये हुआ कि वेदांत कहाँ गया मेरे भगवान भगवान का मैं मैं भगवान वाला भगवान मेरे मालिक मैं भगवान वाला और मैं भगवान का भगवान मैं वाले तो देखो इसमें जो बात हुई वो ऐसी अद्भुत कि जो वैराग्य तुमको बार बार विवेक करने पर भी नहीं आता था विवेक किया कि संसार के भोग अनित्य हैं परंतु अनित्य अनित्य सोचते सोचते रह गए बोले भाई भोजन भी तो अनित्य है लेकिन उसको खाए बिना नहीं रह सकते कपड़ा भी तो अनित्य है उसको पहने बिना नहीं रह सकते स्त्री पुरुष का मिलना भी तो अनित्य है तो उसमें तो बड़ा दुख होता है तो किसी वस्तु को केवल अनित्य समझ करके हम छोड़ नहीं सकते विवेक बताता है कि अनित्य है तो ठीक है परंतु हम अनित्य को छोड़ कहाँ पाते हैं वो विवेक बताता है ये जड़ है परंतु हम जड़ को छोड़ कहाँ पाते हैं और हाँ, शरीर भी जड़ है स्त्री पुरुष भी जड़ है हीरा मोती भी जड़ है मकान धरती भी जड़ है किसी चीज को हम जड़ होने के कारण कहाँ छोड़ देते हैं किसी को अनित्य होने के कारण हम कहाँ छोड़ देते हैं तो केवल नित्यानित्य वस्तु का जो विवेक है नित्य अनित्य का जो विवेक है वो वैराग्य का हेतु नहीं होता परंतु यदि भगवान और संसार के बारे में विचार करें तो संसार जड़ है अनित्य है ये तो ठीक है परंतु संसार दुख भी है और भगवान नित्य है भगवान चेतन है भगवान आनंद रूप है तो वैराग्य को हमारे हृदय में लाने वाली चीज जो भगवान से प्रीति है वो है तो भक्ति से जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है और जब वैराग्य की उत्पत्ति होती है जीवन में तो जिससे वैराग्य होता है उसके बारे में ज्यादा सोचने विचारने का मन नहीं होता है जिसकी भक्ति होती है जिससे प्रीति होती है उसके बारे में सोचने विचारने का मन होता है तो बार बार हमारा मन जाके भगवान को स्पर्श करेगा टच करेगा हमारी की जाके हृदय में भगवान की आकृति भगवान की शक्ल बताने लगेगी तो हृदय में संसार के प्रति वैराग्य और भगवान क्या है ये ज्ञान ये तभी आवेगा जब अपने हृदय में भगवान की भक्ति का उदय होगा यदि अभिप्सा का उदय न हो जीवन में तीव्र इच्छा हमारे जीवन में भगवान की भक्ति आनी चाहिए हमें भगवान मिलने चाहिए हमें भगवान का दर्शन साक्षात्कार संबंध होना चाहिए इसके लिए यदि तीव्र लालसा तीव्र उत्कंठा तीव्र व्याकुलता यदि अपने जीवन में नहीं आवेगी तो हम संसार से वैराग्य नहीं कर सकेंगे इसी के बारे में सोचते विचारते रहेंगे ये संसार कैसा है और यदि हम संसार के बारे में सोचते विचारते रहेंगे तो भगवत प्राप्ति भगवत तत्व ज्ञान कैसे होगा इसलिए संसार की ओर जो हमारे मन का मुंह है हमारी बुद्धि का मुंह है हमारे जीवन का मुंह है हमारे कर्म का मुंह है संसार की ओर उसको पकड़कर भगवान को फिरा देने वाली वस्तु ये भगवान की भक्ति है और संसार के प्रति वैराग्य और भगवत तत्व ज्ञान इस भक्ति से ही इस भक्ति से ही मिलते हैं जब भक्त के हृदय में ये ज्ञान और वैराग्य के दो नेत्र अंकुरित होते हैं बनते हैं तब पराभक्ति का दर्शन होता है और पराभक्ति के हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार होता है इसलिए जीवन में निश्चय करने का यही है कि मैं संसार का नहीं हूँ भगवान का हूँ संसार मेरा नहीं है भगवान ही मेरे हैं और किसी भी संसार की वस्तु को लेकर के अभिमान करना कि मैं धनी हूँ और मैं भूपति हूँ मैं लक्ष्मीपति हूँ मैं भूपति हूँ कि मैं चेयरमैन हूँ कुर्सी मैन हाँ, कि मैं चेयरमैन हूँ कि मैं प्रेसिडेंट हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ कि मैं इंद्र हूँ ब्रह्मा हूँ कुबेर हूँ वरुण हूँ किसी बात को लेकर के संसार की बात को लेकर अपने मैं को जोड़ना ये भगवान के ज्ञान में बड़ा भारी बाधक है इसलिए यदि अंतकरण शुद्ध करना है तो अपने जीवन में भक्ति को धारण करना बहुत जरूरी है और मेरे मन में बारंबार ये भाव आता रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई अभिमान जाय जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति भोरे नहीं तो संसार नहीं छूटेगा वो वेदांतिनों के दृश्यंते दैव संतुषिता सयाहा बिना वैराग्य का जो ज्ञान होता है ये उस ज्ञान में भी बारंबार विषय की लालसा संसार का संबंध और दुख संसार के राग द्वेश क्लेश बिना भक्ति के जो ज्ञान होगा तो वो चित्त में राग जो है उसका संस्कार बना रहेगा द्वेष का संस्कार बना रहेगा राग द्वेष आ आ करके दुनिया में सताते रहेंगे इसलिए योग जो है वो केवल आकार को मिटा सकता है संस्कार को नहीं जब समाधि में बैठेंगे तो कोई आकार नहीं दिखेगा और उठेंगे तो पूर्व संस्कार के अनुसार समाधि लगाने के पहले जो संस्कार था वो फिर आकर के हावी हो जाएगा अपने ऊपर ये मेरा ये मेरा ये भक्ति की धारा ऐसी है महाराज कि ये केवल आकार को ही नहीं बदल देती संस्कार को भी बदल देती है और तत्व ज्ञान से तो आकार और संस्कार दोनों ही बाधित हो जाते हैं आप स्वयं अपने हृदय पर हाथ रख के अपनी ओर देख के इस बात को निश्चय कीजिए हाँ, कि विवेक से आपके संस्कारों की निवृत्ति कहाँ तक होती है विवेक करके आप दुश्मन को अपना आत्मा कहाँ समझते हैं विवेक करके अपने रागास्पद को अपना आत्मा कहाँ समझते हैं तो एक बार अपने अंतकरण से संस्कारों को निवृत्त करने के लिए भगवान की भक्ति चाहिए है और भक्ति का रूप ये है कि मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरे हो यही भक्ति का रूप है ओम शांति